बोली कर बोली मातु विपति सं तय मोरी, तदौ देह बेगी दुसह बिरहु, नि काठो चिताबना मातु अनलि देहि लग सत्य मम प्रीति संनि सुनय कुश्रवण समबानी सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजता से बोली हे माता तू तो मेरी विपत्ति की संगनी है जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है अब यह सहा नहीं जाता काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने सुनत बचन पद गही समझाए से प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से निशिल अनल मिले सुन सुकुमारी अस कह सो निज भवन सिधारी कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलहीन पावक मिटहीन सूला देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनि नयावत एक उतारा सीता जी के वचन सुनकर त्रिजुटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयस सुनाया उसने कहा हे सुकुमारी सुनो रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई सीता जी मन ही मन कहने लगी क्या करूं? विधाता ही विपरीत हो गया न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता पावकमय शशि श्रवतन यागे मनहुमो हि जानि भागी सुनहि विनय विटपयसोका सत्य हरु मम शोका नूतन नूतन किसलय अनल समान देहिय गणि जनि करहि निदान देखि परम वीर ठाकुर सीता सोचन कपिहे कलप समबीता चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुँचा सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता कपि कर हृदय बेचार दीन मुद्रिका तब जनु अशोक अंगार दीन से उठ कर गह तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी मानो अशोक ने अंगारा दे दिया यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया